इस तरह उन्होंने इन दोनों को छुटलाया और आखिरकार वो भी उन लोगों से जा मिले जिन्हें हलाक किया गया था